विवेक चुड़ामी असत परिहार जीव तो यल्यम विदेहे स च केवल पश्य तो भेदम भयम ब्रूते यजुश्रुति जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है उसी की देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है यदा कदा वापि उपस्थितेश ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यगुणमात्रभेदम् पश्यत्यथामुष्य भय तदैव यदीक्षित भिन्नतया प्रमाद जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है तभी उसको भय की प्राप्ति होती है क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति होती है स्मृति न्याय सत निषिद्धे दृश्येत्र स्वात्मतिम करोति उपहित दुखो परिदुख जातम निषिद्ध करता समलिम दुचो यथा श्रुति स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है सत्याभिसंधान रतो विमुक्तो महत्वमात्मीयमुपेति नित्यम मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नस्ये दृष्टं तदेतद्यथ चोरयो चोरयो जो अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है इस प्रसंग का छांदोक्योपनिषद छः सोलह एक दो में इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति पर चोरी करने का संदेह होता है उसे राजपुरुष तपाया हुआ परशु देते हैं यदि उसने चोरी की होती है और वह मैंने चोरी नहीं की ऐसा कहकर मिथ्या भाषण करता है तो उससे दग्ध हो जाता है और जब तब राजपुरुष भी उसे मार डालते हैं और यदि वह वास्तव में चोर नहीं होता तो सत्य से सुरक्षित रहने के कारण वह उस परशु से दग्ध नहीं होता और उसे राजपुरुष भी छोड़ देते हैं यतीर सदनो संधि बंध हेतु विहाय स्वयमयमहमस्मृत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत् सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति कार्य कार्यदुःखं प्रतीतम् यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम दुर्वासनामेव ततस्तोधिकाम ज्ञावा विवेक परिहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधि विदधीत नित्यम बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता मनः प्रसादे परमात्मदर्शनम् तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो बहिर्निरोधपदवीं विमुक्ते बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है कह पंडित संसद सद्विवेके प्रमाण प्रमाणम दर्शी जानन्य कुरियाद सतोवलंबम स्वपात हेतु शिशुवन्मुक्षो सत असत वस्तु का विवेकी श्रुति प्रमाण का जानने वाला परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्त की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा देहादिसंसक्तिमतो न मुक्ते मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः सुप्तश्च नो जागरणं न जाग्रह जाग्रत गुणाश्रयत्वा जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि में अभिमान नहीं हो सकता जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती है आत्मनिष्ठा का विधान स्व सृजंगमेशो ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूप पूर्णात्मनाय स्थित समुक्त जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है वही मुक्त है सर्वात्मना बंध विमुक्त हेतु सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित दिश्याग्रहे सत्युपपद्यते सौ सर्वात्म भावो से सदात्मनिष्ठा संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव सबको आत्मा रूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का आग्रहण बाद होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है दृश्यग्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठत बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनस तत्व करवत धर्म कर्म विषय नित्यात्मनिष्ठा परे तत्तज्ञकरणीयमात्मनिषदानंदे शुभिर्यत्नतः जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो और अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का यत्नपूर्वक बाध करें सिद्धे भिक्षु कर्मण समाधि विदधात्येषा शांतोदात श्रुति शांतोदात उपरतस्तुक्षु बृहदारण्य कुप्तद यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सार्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है आरूढ़ शक्तेरहमो विनाश कर्तुम न शक्य सहसा पंडित ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चरा तानंतरानंत भवा शिवासना वासना अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एका एकी नाश नहीं कर सकता क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं अहम बुद्धेव मोहिन्या जो जोजय्वावृतेर्बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम यति तद्गुण मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निशेषमावरण शक्ति निवृत्त भावे दिग्दृश्यो स्फुटपयो जलवद्विभागे नस्ते तदा वर्णमात्मनि च स्वभावा निसंशयेन भवति प्रतिबंध दिक्षेपणं न नहीं तदा यदि विवेक सम्यग्विवेकस्फुटबोधजन्यो दिभज्य दिग्देश पदार्थ तत्व माया यस्वाद्विमुक्त पुनर्न संसति आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना दिक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाधा रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती परावरैकत्वविवेकबन्धे दहत्यविद्यागहनं शशेषम किम स्यात् संसरण से बीज अद्वैत भाव ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है आवरण से निवृत्ति च सम्यक पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाश तद्विक्षेप जनित दुख निवृत्ति आत्मवस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है